विक्रांत ने नैना के कानों में अपने सांस की गर्मी छोड़ी और फिर उसके बालों से खेलने लग गया नैना को अचानक से अपने कानों में खुजली होने का एहसास हुआ उसने तुरंत ही विक्रांत को टाइट पकड़कर उसे अपने बदल से चिपका लिया इसके बाद तो होटल का ये स्वीट रूम ही विक्रांत और नैना के लिए बैटल रूम बन चुका था पूरी दोपहर तक विक्रांत और नैना एक दूसरे को प्यार करते रहे ये प्यार कोई मामूली नहीं था शायद ही स्वीट रूम का कोई ऐसा एरिया था जहां पर इन दोनों ने अपने प्यार को अंजाम नहीं दिया था बेडरूम से लेकर लिविंग रूम लिविंग रूम से बाथरूम बाथरूम से बेड शायद ही कोई ऐसी जगह बची थी जहां पर ये दोनों नहीं पहुंचे थे दोपहर तक में इन दोनों ने कई राउंड एक दूसरे के साथ सेक्स किया विक्रांत का सपना आज जाकर पूरा हुआ था और इस तरह से पूरा हुआ था ये भी आगे जाकर एक सपना बन जाएगा विक्रांत और नैना ने एक दूसरे की प्यास किस कदर बुझाई थी इसका सबूत होटल का ये स्वीट रूम दे रहा था इन दोनों ने पूरे स्वीट को अस्त व्यस्त कर दिया था बेड के कई गद्दे कहीं पड़े थे तकिया कहीं पड़ा हुआ था पिलो के भीतर भरी हुई रुई बाहर निकलकर पूरे कमरे में बिखरी पड़ी हुई थी डाइनिंग टेबल पर रखी हुई क्रॉकरी आधी जमीन पर पड़ी हुई थी और आधी टेबल पर ही टूट कर पड़ी हुई थी लिविंग रूम में रखा हुआ सोफा भी अस्त व्यस्त हो चुका था विक्रांत नैना के साथ इश्क करने के लिए जितना तड़पा हुआ था आज उसने सारी तड़प निकाल ली थी ऐसा लग रहा था वर्षों की तपस्या आज सफल हो चुकी थी धरती पर ही जन्नत का एहसास ऐसा नहीं है कि विक्रांत पहली बार किसी के साथ सेक्स कर रहा था इससे पहले भी वो कई बार सेक्स कर चुका था अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड जिया के साथ भी विक्रांत ने कई बार इस तरह के इश्क को अंजाम दिया था लेकिन फिर भी जो तृप्ति उसे आज मिल रही थी जो खुशी उसे आज नसीब हुई थी वो आज से पहले उसे कभी नहीं नसीब हुई थी विक्रांत पिछले कई दिनों से काफी ज्यादा थका हुआ था और मकबरे वाले केस के चलते वो काफी टेंशन में भी चल रहा था ऐसे में आज की पारी ने उसे तनाव से काफी राहत दे दी थी खुद नैना भी पिछले कुछ दिनों से काफी तनाव में जी रही थी इगतपुरी के जंगल में हुए इंसिडेंट ने उसे काफी झकझोर कर रख दिया था ऐसे में आज विक्रांत के प्यार ने उसे भी काफी राहत पहुंचाई थी ये दोनों अब मानसिक रूप से काफी फ्रेश फील कर रहे थे विक्रांत सच सच बताओ तुम आज तक कितनी लड़कियों के साथ सोए हो नैना ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा विक्रांत इस वक्त नैना के बालों में अपनी उंगली फिरा रहा था हम्म, विक्रांत सोचने लग गया तुम कितने कमीने हो तुम्हें याद करना पड़ रहा है कि तुम कितनों के साथ सोए हो नैना ने लपक कर विक्रांत की गर्दन पकड़ते हुए कहा अरे छोड़ो विक्रांत ने अपनी गर्दन नैना के हाथों से छुड़ाते हुए कहा वो सब बस ऐसे ही थे मतलब फ्रेंड विद बेनिफिट ऐसा कुछ नहीं था मेरा उनके साथ लेकिन आ अब आज से मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं तुम्हारे अलावा और किसी के साथ कुछ नहीं करूंगा पक्का और अब मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा ताकि खुद को तुम्हारे लेवल पर ला सकूं और फिर शादी के लिए तुम्हारा हाथ मांग सकूं विक्रांत ने नैना की उंगलियों में अपनी उंगलियों को फंसाते हुए कहा विक्रांत के मुंह से शादी का जिक्र सुनकर एक पल के लिए नैना का चेहरा उदासी में डूब गया लेकिन विक्रांत इस बात को नोटिस कर पाता उससे पहले ही नैना फिर से नॉर्मल हो उठी विक्रांत तुमने शादी का जिक्र किया यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है नैना ने थोड़े उदास मन से कहा अरे तो इसमें उदास होने की क्या बात है मैं कुछ गलत थोड़ी ना कह रहा विक्रांत ने जब नैना के हाथ को सख्ती से पकड़ते हुए कहा मैं प्रॉमिस कर रहा हूं तुमसे अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे वरना किसी से नहीं झूठ झूठ झूठ सब झूठ चुप करो तुम्हारी बातों पर कौन भरोसा करेगा इतना झूठ बोलते हो तुम नैना ने विक्रांत को खुद से दूर करने की कोशिश की लेकिन विक्रांत ने उसकी पीठ पर अपने हाथ से दबाव डालते हुए उसे खुद के और करीब कर लिया अरे अब लड़कियां मुझ पर मरती हैं तो मैं क्या कहूँ हे विक्रांत ने हंसते हुए कहा देखो नैना मेरे अंदर सब कुछ है मुझे पता है लड़कियों को कैसे खुश रखा जाता है तुम मेरे साथ रहोगे तो देखना तुम हमेशा खुश रहोगी चुप करो हम्म नैना ने इतराते हुए विक्रांत को खुद से दूर धकेलने की कोशिश की और विक्रांत बैठ के दूसरे कोने पर जा गिरा वास्तव में विक्रांत के लिए नैना के साथ रिलेशनशिप में आना किसी सपने से कम नहीं था लेकिन उसके लिए इससे भी ज्यादा खुशी की बात ये थी कि उसने नैना को उस वक्त संभाल लिया था जब वो मेंटली काफी ज्यादा डिस्टर्ब चल रही थी विक्रांत के प्यार और रोमांस को पाकर नैना बहुत जल्दी अपने स्ट्रेस को भूल चुकी थी विक्रांत के प्यार और उसके ख्याल में रहकर वो अपने सारे गम भूल चुकी थी अब भले ही विक्रांत के डर से नैना के ऊपर लगे आरोपों की जांच कर रही स्पेशल टीम अभी शांत हो चुकी थी लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि नैना की दिक्कत खत्म हो चुकी थी अभी बस इतना हुआ था कि नैना की मानसिक स्थिति को देखते हुए स्पेशल टीम ने कुछ दिन के लिए इन्वेस्टिगेशन रोक दिया था लेकिन टीम की तरफ से नैना के ऊपर लगे आरोपों को लेकर कोई बयान नहीं जारी किया गया था और ना ही उसे इस मामले में क्लीन चिट दी गई थी उधर ब्यूरो चीफ मिताली ने भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया था उन्होंने भी नैना की तरफ से कोई बयान नहीं दिया वो इस मामले से खुद को दूर ही रख रही थी नैना की ड्यूटी अभी तक बहाल नहीं हुई थी वो अभी भी छुट्टी पर ही चल रही थी लेकिन नैना को इस बात की जरा सी भी परवाह नहीं थी बल्कि वो इस छुट्टी के समय को विक्रांत के साथ स्पेंड कर रही थी ये टाइम उसके लिए हनीमून टाइम जैसा हो गया था विक्रांत के साथ घूमना फिरना मूवी शॉपिंग और फिर होटल के कमरे में रोमांस इन दिनों में उसे विक्रांत को और करीब जानने का मौका मिल रहा था खुद विक्रांत भी नैना को करीब से जानने की कोशिश कर रहा था और ये समय उसके लिए बहुत परफेक्ट था विक्रांत के साथ रहते रहते नैना का नेचर और खुलकर सामने आ रहा था अब उसका गुस्सा भी काफी कम हो रहा था वो काफी खुश रहने लगी थी ऐसा लग रहा था कि नैना को इस प्यार की जरूरत बहुत दिनों से थी शायद प्यार की कमी की वजह से उसका टेम्पर हाई रहता था उधर पुलिस स्टेशन में भी नैना और विक्रांत के इश्क की चर्चा जोरों से होने लगी थी हर तरफ उनके बारे में बातें होने लगी थी विक्रांत और नैना को सभी परफेक्ट कपल का दर्जा दे चुके थे हालांकि मकबरे के मर्डर केस का एंड हो चुका था लेकिन अभी भी डीएन नगर ब्रांच के ऑफिसर्स को काम से फुर्सत नहीं थी अब मिस्टर अय्यर के मर्डर और बेबे के मर्डर केस की पूरी फाइल तैयार करके पूरे सबूत गवाह के साथ चार्जशीट तैयार करना था ताकि कोर्ट में रिट दायर की जा सके पूरी डी नगर टीम दिन रात एक करके इस काम में लगी हुई थी उधर टीम हेड नैना के छुट्टी में जाने के बाद ब्यूरो चीफ मिताली ने इस पद की जिम्मेदारी विक्रांत को दे रखी थी लेकिन अब अभी विक्रांत काम करने के मूड में नहीं चल रहा था ऐसा नहीं था कि वो ड्यूटी पर जाता नहीं था वो ड्यूटी पर जाता तो था लेकिन सिर्फ खाना पूर्ति के लिए काम की जिम्मेदारी उसने टीम लीडर चेतन राय के हाथों में सौंप रखी थी और खुद ज्यादातर वक्त नैना के साथ बिताता था एक एक दिन बीतता गया और इसके साथ ही विक्रांत और नैना के रिश्ते की गहराई बढ़ती चली जा रही थी विक्रांत को ऐसा फील हो रहा था कि अब वो जाकर एक बेहतर जिंदगी जी पा रहा था ऐसी जिंदगी उसे अपने पिछले जन्म में भी कभी नसीब नहीं हुई थी कभी कभी एकांत में जब वो अपनी जिंदगी के बारे में सोचता था तो उसे मानो खुद की लाइफ पर यकीनी नहीं हो रहा था पहले एक गैंगस्टर की जिंदगी और फिर नया जन्म पुलिस की नौकरी डिटेक्टिव और फिर अंत में प्यार का भी मिलना ये सब किसी सपने जैसा ही तो था अपने इस जन्म में अब तक विक्रांत ने सब कुछ हासिल कर लिया था न सिर्फ उसे नैना का प्यार हासिल हुआ था बल्कि एक अच्छी नौकरी खूब सारी कमाई इज्जत रुतबा सब कुछ तो उसे मिल रहा है और ये सब कहीं ना कहीं अदृश्य शक्ति की ताकत का कमाल था बिना अदृश्य शक्ति की मदद के शायद ही उसे इतने कम समय में ये सब कभी हासिल हो पाता पिछले कुछ दिनों से उसे लगातार अदृश्य शक्ति का कोडवर्ड मिल रहा था लेकिन कोई खास टास्क उसे नहीं मिल रहा था हालांकि इस बीच उसे कई सारे टूल भी मिल चुके थे night vision voice changing system power jammer आदि सब कुछ उसे मिल चुका था सबसे अच्छा टूल तो विक्रांत को उस दिन मिला था जिस दिन वो पहली बार नैना के साथ होटल में गया हुआ था उस दिन विक्रांत को इनविजिबल प्रोपेलर मिला हुआ था इस डिवाइस का इस्तेमाल ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया जा सकता था ये डिवाइस ट्रांसपोर्टेशन के लिए एनर्जी प्रोवाइड करने का काम कर सकता था जैसे कि अगर विक्रांत कहीं जा रहा हो और अचानक से उसकी कार का फ्यूल खत्म हो गया है तब वो स्टूल की मदद से बिना फ्यूल के भी गाड़ी को चला सकता है अब विक्रांत ने जो नवाब हामिद खां के समय का फ्लावर पॉट रखा हुआ था जो कि उसने तारीख से खरीदा था उसे बेचने के लिए विक्रांत ने तुरंत ही अपने ब्लांड दोस्त सरताज को फोन किया उसने सरताज से कहा कि किसी तरह से इसे बेच डालो किसी को इसके बारे में खबर नहीं होनी चाहिए सरताज ने तुरंत उस एंटीक फ्लावर पॉट को बेच दिया ये पॉट कुल पंद्रह लाख रुपए में बेका था विक्रांत खुद इसकी कीमत सुनकर चौंक उठा उसे उम्मीद भी नहीं थी कि ये फ्लावर पॉट इतना ज्यादा कीमती भी हो सकता है उधर पुलिस डिपार्टमेंट और पुरातत्व विभाग वालों ने मिलकर इगतपुरी की गुफा में से खजाने को निकालना शुरू कर दिया था काफी सारे गोल्डन पिलर समेत हीरे मोती और सोने के जवाहरात वहां से निकाले जा चुके थे और काफी सारे अभी निकाले जाने बाकी थे इस खजाने ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था यहाँ तक कि इंटरनेशनल मीडिया भी इस न्यूज को कवर करने के लिए पहुंच चुकी थी कहा जा रहा था कि वहां पर इतना ज्यादा कीमती सामान रखा हुआ है कि इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी सुधारने में मदद मिल सकती है क्योंकि इस खजाने को ढूंढने का काम विक्रांत और नैना ने मिलकर किया था इसलिए इन दोनों के भी काम की पूरे डिपार्टमेंट में खूब चर्चा हो रही थी नैना और विक्रांत ने अपनी जान की बाजी लगाकर इस खजाने के बारे में पता लगाया था और दुर्दांत अपराधी गुरुजी उर्फ गणेश महात्रे को पकड़ा था इसके लिए इन लोगों को कई सारे अवार्ड भी दिए जाने का ऐलान हो चुका था महाराष्ट्र पुलिस डिपार्टमेंट के साथ ही पुरातत्व विभाग और कई तरह की एजेंसियों की भी तरफ से इन दोनों को अवार्ड देकर सम्मानित करने का ऐलान हो चुका था क्योंकि विक्रांत ने अपनी जिंदगी रिस्क में डालकर खजाने को खोज निकाला था तो ऐसे में सुनने में यह भी आ रहा था कि राष्ट्रीय पुरातत्व विभाग द्वारा विक्रांत को गुफा के भीतर से मिलने वाले खजाने की कीमत का कुछ प्रतिशत दिया जाएगा हालांकि उसे मिलने वाले खजाने का मात्र एक या दो प्रतिशत ही इनाम के तौर पर दिया जा रहा था लेकिन इतना कीमती खजाने का एक या दो प्रतिशत मिलना भी बहुत बड़ी बात है जतिन ने अनुमान लगाते हुए विक्रांत को बताया कि अगर उसे इस खजाने का एक भी प्रतिशत इनाम के तौर पर मिलता है तो भी ये तकरीबन पचास से अस्सी लाख रुपए के करीब होगा ये सुनकर तो विक्रांत की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा ऐसा लग रहा था कि उसके करोड़पति बनने का सपना अब जल्द ही पूरा होने वाला था विक्रांत के जीवन की खुशियां अभी यहीं खत्म नहीं हुई थी वो इन सब खुशियों के जश्न में डूबा हुआ ही था कि इसी बीच उसे गांव से माँ का भी फोन आ गया माँ ने उसे बताया कि वो जिस ज्योतिष के किताब को ढूंढ रही थी वो मिल चुकी है दरअसल वो किताब उसके चचेरे भाई ने किसी लाइब्रेरी में रखवा दी थी लेकिन जब उन्हें पता चला कि विक्रांत उस किताब को हासिल करना चाहता है तो फिर उन्होंने तुरंत ही लाइब्रेरी से वो किताब वापस ले लिया किताब मिलने की खबर सुनकर विक्रांत की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा आखिरकार अब वो अदृश्य शक्ति की पहेलियों का मतलब तो समझ पाएगा माँ ने बताया कि वो किसी भी दिन आकर वो किताब ले जा सकता है इस पर विक्रांत ने अपनी माँ से फोन पर कहा माँ कल ही मैं आपकी नई बहू को लेकर गाँव आ रहा हूँ